अफान बिन मुस्लिम से रिवायत है कहा हम इस्माइल बिन उलैया के हाथ थे तो एक आदमी ने एक दूसरे आदमी से रिवायत बयान की मैंने कहा वो मजबूत यानी सिका का हम पल्ला नहीं तो उस आदमी ने कहा तुमने उसकी गैबत की है इस्माइल कहने लगे उन्होंने उसकी गैबत नहीं की बल्कि हकम यानी फैसला बयान किया है वो सख्त नहीं है सही मुस्लिम हदीस नंबर चौरासी